स्वतः एव जिंदा रहते एक बार एक बड़ी सभा हो रही थी तो काशी के एक बहुत बड़े विद्वान जो आजकल पूर्व मीमांसा के प्रामाणिक विद्वान माने जाते हैं काशी में पहले चिन्ह स्वामी जी महाराज थे महामहोपाध्याय पंडित चिन्ह स्वामी काशी विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के अध्यक्ष थे और अब हैं ये रामचंद्र शास्त्री खनंग नेपाली है खनंग है खनंग प्रामाणिक विद्वान है तो एक दिन सभा में कहने लगे कि मनुष्य श्रवण मनन करे हृदय ध्यान करे इससे अंतकरण शुद्ध होगा इस जन्म में ज्ञान नहीं हुआ तो नहीं हुआ इससे जो संस्कार उत्पन्न होगा तो इसके फल स्वरूप परलोक में या मरने के बाद दूसरे जन्म में ज्ञान हो जाएगा कृपात्री जी महाराज ने वही सभा में ही उनको रोक दिया बोले ठहरो तुम वेदांत का सिद्धांत नहीं जानते वेदांत अदृष्ट उत्पत्ति के द्वारा तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं करता कि जैसे धर्म करने से कोई अदृष्ट उत्पन्न होता है और उसका फल दूसरे जन्म में या स्वर्ग में मिलता है ऐसे ये वेदांत अगला जन्म बनाने के लिए या परलोक बनाने के लिए या वहाँ जाकर फल देने के लिए नहीं है तो जैसे भोजन का फल जो तृप्ति है या क्षुधा की निवृत्ति है वो भोजन समकाल इसी जीवन में मिलती है खाओ और भूख मिटी खाओ और तृप्ति मिली खाओ और ताकत मिली जैसे भोजन अदृष्टार्थ नहीं होता कि भोजन करेंगे तो एक पुण्य पैदा होगा तो स्वर्ग में उससे अप्सरा मिलेगी भोजन पुण्य के लिए नहीं किया जाता यही क्षुधा निवृत्ति के लिए होता है इसी प्रकार ये जो तत्व ज्ञान है तो ना ये अगले जन्म के लिए या स्वर्ग के लिए वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं है इसी जन्म के लिए बोले कि भाई प्रतिबंध पड़ जाए तो क्या होगा तो प्रतिबंध क्या है असल में प्रतिबंध है वासना वासना ही तो प्रतिबंध है ना तो वासना को ही हम ग्रंथि बोलते हैं यदा अविद्या वासना यहा अविद्या वासना एवं ग्रंथया अज्ञान के कारण जो अपने मन में वासना बैठ जाती है उसी का नाम ग्रंथि है अब ग्रंथि के बारे में एक दो बात आपको सुनावे वो तो सब धान बाईस पसेरी वाली बात है वेदांत में नहीं चलती है ये तो विवेक का मार्ग है देखो आप चलते चलते कोई सुंदर रूप देखते हो कैसे देखते हो आंख से देखते हो सुंदर रूप का ज्ञान ही तो होता है ना लेकिन ये रूप हम देखते रहे ये जो वासना हृदय में उठती है इस रूप से हमको बड़ा सुख मिलेगा इसके देखने में बड़ा सुख है का ये रूप हमारे साथ रह जाए तो फिर क्या पूछना है ये क्या है देखते चलते हो ये ठीक है तुम्हारी आंख देखने के लिए बनी है किसी के साथ बंधने के लिए नहीं बनी है ये जो नेत्र का रूप के साथ बंधन है ना इसका नाम ग्रंथि है तो ये नेत्र का नाम तो मैंने यू ही लिया अरे कान से सुनते हो आवाज लेकिन ये आवाज हमको फिर फिर सुनने को मिले इस जन्म में मिले अगले जन्म में मिले है ना यही वासना काम तो किसी शब्द के साथ नहीं बनता जो शब्द बोला जाता है या गाया जाता है या जो ध्वनि होती है चाहे ध्वनियात्मक शब्द हो और चाहे वर्णात्मक शब्द हो एक ध्वनियात्मक शब्द होता है नगारा है ढोलक है मृदंग है बांसुरी है हारमोनियम है बीणा है सितार है किन किन मिन है, है ये सब ध्वनियात्मक शब्द हैं और वर्णात्मक शब्द हैं है? प्यारे प्यारी है ना दुश्मन दोस्त ये सब वर्णात्मक शब्द हैं ये कोई बोले या कहीं ध्वनि हो तो उसको सुना देना सिर्फ कान का काम है तो कान को उसके साथ बांध देना कि यही हमको इस जन्म में और अगले जन्म में और स्वर्ग में और नरक में बारंबार मिले ये जो श्रोत्र ज्ञान को शब्द रूप विषय के साथ बांधना है कि हमको फिर मिले इसी का नाम बातना है ये गांठ है और ऐसे चलो रास्ते में कि बीते हुए को फिर लौट के देखना नहीं पड़े बीत गया बीत गया सब हुआ फिर आगे आ गए तब क्या करना पड़ेगा तो चाहे तो उस चीज से चक्कर लगवाना पड़ेगा और चाहे आपको चक्कर लगाना पड़ेगा पीछे छुपी हुई चीज फिर सामने आवे तो क्या करना पड़ेगा आपको फिर घूम के वहाँ जाना पड़ेगा या फिर घूम के देखना पड़ेगा इसी का नाम वासना अब आपको ये बात सुना है कि सृष्टि में कहीं भी ज्ञान में ज्ञान में बंधन नहीं है वासना में बंधन है ज्ञान सीधे जैसे सूरज की रोशनी सूरज में से निकल के हमारी तरफ चलती है ना तो रास्ते में रंगीन क्यों हो जाती है रोशनी रंगीन नहीं है वो जो बादल में जो पानी के कण हैं वे इंद्रधनुष होकर दिखते हैं रोशनी लाल नहीं हो गई रोशनी पीली नहीं हो गई रोशनी हरी नहीं हो गई है वो तो बादल की वासना है जो लाल पीली हरी दिखाई पड़ती है ये बकरी भवन ही तो ग्रंथी है ना ग्रंथि क्या है ज्ञान का बकरी भवन ज्ञान का टेढ़ा होना दूसरे के साथ गांठ पड़े तो भी टेढ़ा हो गए और अपने में गांठ पड़े तो भी टेढ़ा हो गए ये ग्रंथि शब्द का भात्वर्थ जो है ना वो टेढ़ा होना है वो टेढ़ा होना और हमारे तो व्याकरण है ना तो ग्रथी कौटिल्य ग्रथि धातु जो है वो कौटिल्य के अर्थ में है कौटिल्य कुटिलता कुटिलता बात कम हाँ, आंख का टेढ़ी होना हो है ना तिरछी आंख करके जब किसी को देखना पड़ता है नारायण आंख को तो गांठ पड़ गई हाँ। नारायण ग्रंथ कौटिल्य कौटिल्य माने कुटिलता कुटिलता क्या ज्ञान का टेढ़ा होना तेरा सहज ज्ञान जो हो रहा है सो ठीक है जो कहा जा रहा है सो ठीक है जो किया जा रहा है सो ठीक है और एक का नहीं सबका हे भगवान है ना इसका नाम ब्रह्म ज्ञान है अगर आप अपने किसी रिश्तेदार नातेदार का ब्रह्म है ना एक आदमी ने अपने कुत्ते का नाम ब्रह्म रख लिया हाँ, भक्त था और जरा वेदांतियों से चिड़ता था है ना तो उसने अपने कुत्ते का नाम रख लिया ब्रह्म अब वेदांति तो चिड़े लेकिन उसने एक दिन बना कहा कि ब्रह्म तो मर गया कुत्ता मर गया कुत्ता मर गया तो ब्रह्म मर गया और कुत्ते का नाम कोई ब्रह्म रखेगा तो मर जाएगा है ना ये कल एक सज्जन पूछ रहे थे ना वो क्या नाम है वेदांत का मर्म बड़ा विलक्षण है जब तुम माया की उपाधि से युक्त चेतन का नाम ही ईश्वर रखते हो है ना माने जब आभास का नाम ईश्वर रखते हो है? तो आत्मा को ब्रह्म जानने पर वो आभास रूप जो ईश्वर है सो बाधित हो जाएगा लेकिन यदि अखंड चैतन्य का ही नाम ईश्वर है, हैं? तो वो अखंड चैतन्य का आत्म रूप से ज्ञान होने पर भी बाधित नहीं होगा आभासवाद की प्रक्रिया में जीव ईश्वर का भेद भेद बाधित होता है जीव और ईश्वर में जो दृश्यांत है कारणांत है कार्यांत है वो बाधित होता है चैतन्यंश बाधित नहीं होता बोला तो वेदांती लोग है ना अज्ञान के कारण अपनी मान्यता से जो बनावटी ईश्वर बनाया गया है ना उसका बाध करते हैं और जो असली ईश्वर है है वो तो ब्रह्म ही है वो तो आत्मा ही है है ना वो जो अखंड अद्वितीय चैतन्य है उसका कभी बात थोड़ी होता है वो तो जैसे कोई अपने बेटे का नाम ब्रह्म रख ईश्वर रख दे और कहे कि वो परदेश गया है है ना ऐसे माया की उपाधि से या कारण की उपाधि से है? या समष्टि की उपाधि से समष्टि देश प्रधान उपाधि होती है और कारण द्रव्य प्रधान उपाधि होता है बोला और नित्यता जो है वो काल प्रधान उपाधि होती है तो इनको परब्रह्म परमात्मा में आरोपित करके है ना कोई काल में चल रहा है कोई देश में रह रहा है कोई द्रव्य में व्याप्त हो रहा है ऐसा बोलते हैं असल में ईश्वर व्यापक भी नहीं है असल में ईश्वर नित्य भी नहीं है का असल में ईश्वर ईश्वर सर्वात्मक भी नहीं है ईश्वर तो अपना आपा है तो अब जरा आप देखो ज्ञान में बंधने का स्वभाव ही नहीं है ज्ञान का जो स्वरूप है वो बंधन नहीं है तो जब ग्रंथि होती है कौटिल्य कहाँ से आता है कौटिल्य आता है तब जब वो अंतकरण की कार्य उपाधि पर बैठ करके अंतकरण कार्य ये कारण नहीं है अंतकरण की उपाधि पर बैठ करके एक शाखा उसकी आंख की ओर चली एक शाखा उसकी कान की ओर चली एक शाखा त्वचा में आई एक शाखा नाक में आई एक शाखा जीव में आई एक शाखा हजारों नस नारियों में हजारों नस नारियों में चली तो इन इनके साथ जो इन कुटिल इन टेढ़ी मेढ़ी चीजों के साथ जो टेढ़ा मेढ़ा भासता हुआ ज्ञान है वो बद्ध सा भासता है असल में बद्ध नहीं होता ज्ञान न रूप से बद्ध है न रस से बद्ध है न गंध से बद्ध है न स्पर्श से बद्ध है न शब्द से बद्ध है अरे ये तो हजारों आए और हजारों छोड़ दिए कहाँ बद्ध है ग्रंथि कहाँ है गांठ कहाँ है गांठ कहाँ है तो जब हम बीती हुई बातों को फिर से पाना चाहते हैं वर्तमान को भविष्य में ले जाना चाहते हैं भविष्य को बनाना चाहते हैं भविष्य को तो बनाना चाहती चाह जो है ना चाह चाह टेढ़ी होती है वो हाँ चाह टेढ़ी होती है इच्छा टेढ़ी होती है आप जानते हैं ना शक्ति टेढ़ी होती है प्रेम टेढ़ा होता है शक्ति टेढ़ी होती है हाँ, प्रेम भी टेढ़ा होता है वगत प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवे प्रेम टेढ़ा होता है शक्ति टेढ़ी होती है द्वंद्व जो होता है द्वंद्व ये जैसे ऋणात्मक और धनात्मक दो प्रकार की विद्युत मानते हैं ना इनमें ग्रंथि होती है लेकिन इनसे जो इनसे जो परे हैं हाँ, वो तो विज्ञान का विषय नहीं है ये साइंस से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं जिसमें दो नहीं होगा जिसमें ऋण और धन दो नहीं होगा वो विज्ञान के द्वारा कैसे जाना जाएगा तो ब्रह्म विज्ञान का विषय यंत्र का विषय विज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं होता जिसमें द्वंद्व होता है वही आपस में जरा लिपट जाता है बोला दो हो सब ना आपस में लिपटे तो आपस में लिपटने के लिए द्वंद्व होता है तो आप ग्रंथी शब्द का अर्थ समझो ग्रंथी माने कुटिलता टेढ़ापन बागपन तो जैसे दो रस्सी हो तो उनकी गांठ लगती है एक ही रस्सी में गांठ लगाना हो तो भी लगा सकते हैं लेकिन वो रस्सी होगी सूत्रे मणिगणा युवा मत पर परम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वविदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा युवा सूत में जैसे सूत का ही मन का हो जैसे सिख लोग है ना उनकी माला बनाते हैं उसी में गांठ लगा देते हैं और जैसे तिब्बती लोग सूत की माला बनाते हैं और उसी में गांठ पर गांठ लगा देते हैं जैसे सोने की माला बनाई जाए और उसमें सोने की गांठ और सोने की जंजीर तो सब सोने ही होगा तो उसमें वो ग्रंथिवत आभास है ग्रंथि नहीं है ये जब हमारा परिपूर्ण परिपूर्ण का मतलब वो जब समझ लेते हैं ना कि देश में जैसे हवा चलती है स्थान में ये पूरब से हवा आई पश्चिम जा रही है ऐसे ये आत्मा जो है ये पूरब पश्चिम के भीतर भरा हुआ है तो नारायण स्थान में आत्मा भरा हुआ नहीं होता देश तो पूर्व पश्चिम के द्वंद की ग्रंथि है और काल जो है वो भूत भविष्य के द्वंद्व की ग्रंथि है और वस्तु जो है वो कार्य कारण के द्वंद्व की ग्रंथि है और आत्मदेव देव जो हैं ये भूत भविष्य कार्य कारण पूर्व पश्चिम है ना इनमें नहीं है इनकी कल्पना के अधिष्ठान है इनके अधिष्ठान है हाँ, इनके और इनकी कल्पना के अधिष्ठान है कल्पना के अतिरिक्त तो यही नहीं हाँ, और स्वयं प्रकाश है इनकी किरण न काल में टेढ़ी होती हाँ, न देश में टेढ़ी होती न वस्तु में टेढ़ी होती न अंतकरण किसी भी अंतकरण में टेढ़ी नहीं होती और किसी भी इंद्रिय में टेढ़ी नहीं होती और किसी भी विषय में टेढ़ी नहीं होती ये तो सहज स्वभाव से बिना इंद्रिय के बिना विषय के बिना काल के बिना देश के बिना कारण के बिना कार्य के ये तो अपने आप में मगन है स्वयं अपने प्रतिष्ठिता अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हैं और भाषमान जो परिच्छिता है उसके साथ जब ये हम सोचने लगते हैं कि ये हमारा परिच्छिन्न अहम बना रहे हाँ, ये ग्रंथि हो गई ग्रंथि हो गई कुटिलता हो गई अरे जब तुम पूर्ण रूप में बने हुए हो है? तो परिच्छिन्न रूप में बने रहने की क्या वासना है तो एक आदमी के पास महल था उसने कहा कि ये झोपड़ी भी हमारी हो जाए ये झोपड़ी वाले को तो निकाल दें और ये झोपड़ी भी हमारी हो जाए तो कभी कभी आके हम छिप के इसमें बैठा करेंगे अरे बाबा जब इतना बड़ा महल है तुम्हारे से झोपड़ी क्यों छीन छीनते हो यही तो कौटिल्य है ना तो तुम ब्रह्म हो करके जब एक अंतकरण में खुद फुदाने वाले बदबदाने वाले इस अहम को जब मैं समझने लगते हो यही तो बांकापन है यही टेढ़ापन है वक्रता कौटिल्य हाँ, ये गांठ पर गए तो ग्रंथि क्या है किसी विषय को चाहना किसी भी विषय को चाहना ये ग्रंथि है अपने इंद्रिय को किसी भी विषय से बांध देना ग्रंथि है अपने को इंद्रिय के साथ बांध देना ग्रंथि है अपने को अंतकरण के साथ बांध देना ग्रंथि है और अपने को इंद्र रुद्रादि देवता के साथ बांध देना ग्रंथि है और अपने को अपने को ईश्वर परमेश्वर के साथ बांध देना ग्रंथि है यही तो ग्रंथि है बोले तब इस ग्रंथि से हम बंध गए क्या तब बोले नहीं बंधे नहीं बंधे हुए से मालूम पड़ते हो तो ग्रंथि माने ग्रंथि माने माया ही होता है बोला दूसरा नहीं कौटिल्य हुआ ना तो कुटिलता ग्रंथि माने कुटिलता कुटिलता माने कपट हाँ, कुटिलता माने माया हाँ बोले मीठा और मन में लूट लेने की हो तो कुटिल आदमी है ना ठग हुआ ना कुटिल हुआ ठग हुआ है तो क्या कर रहा है तो मधुर भाषण करके माया रच रहा है यही उसका कौटिल्य है यही उसका कौटिल्य है तो ये नाशवान जो हमेशा रहने वाला दिखता है ये जो टुकड़े टुकड़े हमेशा रहने सदा सब जगह मिलने वाले मालूम पड़ते हैं ये जो दृश्य है वो दृष्टा मालूम पड़ता है जो अनेक है वो एक से मिला हुआ मालूम पड़ता है ये बुद्धि जो है ये एक जगह तादाद में कर लेती है ये इसका कौटिल्य है हाँ, बुद्धि का कौटिल्य जैसे बल्ब टेढ़ा हो ना तो बिजली भी तो टेढ़ी मालूम पड़ती है तो बल्ब के टेढ़ा होने से क्या बिजली टेढ़ी हो गई है? तो ये जो अंतकरण है ये तो बल्ब सरीखा है ये आँख है कान है नाक है ये तो बल्ब सरीखे हैं और अपना आत्मा जो है वो विद्युत सरीखा है तो समझो कहीं भी तुम्हारे लिए गांठ नहीं है अब गांठ नहीं है इसका समझो हम आपको जैसे एक गांठ आपको पड़ गई है कि बिना पैसे के हम जी नहीं सकते एक गांठ है तो एक गांठ ये है कि बिना विरक्त हुए हम सुखी नहीं हो सकते है ना ये दोनों गांठ है ग्रंथि है ये ग्रंथि है दोनों ग्रंथि है सम्यक बोधा प्रमृद नाती निवृत्ति माफी मृद नाती सम्यक बोधा प्रवृत्तिवत सुरेश्वराचार्य भगवान कहते हैं कि जो सम्यक बोध है ब्रह्म बोध है वो जैसे प्रवृत्ति को चौपट कर देता है वैसे निवृत्ति को भी चौपट कर देता है निवृत्ति माती मृदनाती सम्यक बोधा मर्दन कर देता हो निवृत्ति को रौद देता है पांव तले कुचल देता है निवृत्ति को कौन का सम्यक बोध का कैसे का प्रवृत्तिवत जैसे प्रवृत्ति को कुचल देता है वैसे निवृत्ति को कुचल देता है निवृत्ति माने तत्व ज्ञान नहीं निवृत्ति माने वैराग्य ग्रंथि और प्रवृत्ति माने राग ग्रंथि ये दोनों गांठ हैं वैज्ञानिक आविष्कार इनके ऊपर काम करेंगे हो आगे आगे चल करके करेंगे क्या करेंगे कि किसी के हृदय में रागत ग्रंथि बड़ी प्रबल हो है ना तो एक इंजेक्शन लगावेंगे है ना अरे आणविक प्रक्रिया से हो हाँ। आणविक प्रक्रिया से ऐसा प्रभाव डालेंगे इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी राग बदल जाएगा ये लड़की लड़के जो बेवकूफी से फंस जाते हैं ना कहीं इसकी चिकित्सा निकलेगी क्या चिकित्सा निकलेगी कि यदि ये गलत जगह पर फंस गए हों तो आणविक शक्ति के प्रयोग से इनके दिमाग को ठीक कर दिया जाएगा नहीं यहाँ नहीं फंसना चाहिए और यदि कोई वैराग्यवान होकर के भागने लगे गुफा में रहने लगे है ना भीख मांगने लगे है ना बाल वाल रखा करके किम भूत किम आकार भालू की तरह चेहरा बनावे है तो एक इंजेक्शन लगाया और दिमाग में से वो कीड़ा जो है ना वो गांठ जो है वो निकल गई ये ज्ञान जो है इसका स्वभाव सहज है न निवृत्ति की कृत्रिमता है और न प्रवृत्ति की कृत्रिमता है ये निवृत्ति और प्रवृत्ति को दोनों दोनों बनावट है दोनों बनावट हाँ। सहज भाव जो है वो कैसे आवे का सहज भाव तब आवे जब अपने को सहज रूप से जानो तो बोले भावना करें कि हम सहज हैं तो नहीं ये हाँ ये ध्यानामृत की मिठास नहीं है बोला हाँ हाँ ये अभ्यास का नतीजा नहीं है ये एक सत्य है बोला एक असलियत है कि तुम्हारा सहज स्वरूप ऐसा ही है तुम बनावटी प्रवृत्ति करके भी नहीं कर सकते और तुम बनावटी निवृत्ति करके भी नहीं निवृत्त नहीं कर सकते ये सब बनावटी पोशाक एक दिन गिर पड़ेगी ये सब रंग रोगन छूट जाएंगे है ना ये सब पाउडर स्नो लिपस्टिक किसी काम नहीं आएंगे सब के सब एक दिन छूट जाएंगे ये जो शरीर है ना और शरीर के संबंधी हैं ये जो वासनाएं हैं ये क्या है ये बस पाउडर लिपस्टिक की तरह है है ना हाँ, एक दिन छूट के गिर जाएंगे सब तुम्हारे सहज ज्ञान में तुम्हारी सहज सत्ता में ये कोई रंगीनी नहीं है ये आज गुलाब खिला मालूम पड़ता है, है? जब वो कल धरती में गिरेगा तो सब रंगीनी चली जाएगी मिट्टी की मिट्टी अपने सहज रूप में ही रहेगा ये करेला आज बड़ा कड़वा मालूम पड़ता है वो जब मिट्टी में गिरेगा तो फिर मिट्टी की मिट्टी ऐसे ये जो तुम्हारा आज ये देह से तादात्म्यापन्न स्वरूप है इसका एक सहज रूप है सरल रूप है अकुटिल रूप है निर्ग्रंथ रूप है तो जब सारी ग्रंथियां छूट जाती हैं तो आप जानते हो कि हमारे जैन संप्रदाय में ग्रंथी से ग्रंथ बनाया तो बोले अब हम निर्ग्रंथ हो गए निर्ग्रंथ जानते ना पोथी पन्ना फेंक के विचरो हुए निर्धार कोई ग्रंथ अपने पास नहीं हो बोले निर्ग्रंथ तो ये जब तक अनुभव नहीं हो तब तक ग्रंथ का उपयोग है वो बात के तो महावीर स्वामी का वचन है इसलिए उसको प्रमाण मानते हैं उनके यहाँ भी ग्रंथ चलता है एक तो महापुरुष का वचन होता है और एक साधक का वचन होता है और एक विद्वान का वचन होता है तीन प्रकार वचन का प्रामाण्य मानते हैं जैन में तीन प्रकार का हाँ। एक जो अत्यंत सिद्धि के पास तीर्थंकरता के पास पहुंचा हुआ जो पुरुष है उसका वचन एक तीर्थंकर का वचन और एक संप्रदाय का जो उद्भव विद्वान है उसका वचन तीनों में प्रामाण्य मानते हो हाँ लेकिन वो कहते हैं कि अंत में तो दिगंबर होना है ना हाँ, हाँ। तो दिगंबर होना है तो कमर में जो गांठ लगती है ना ये भी बोले हमको ग्रंथी इतनी नापसंद है कि न तो हम ग्रंथ को लपेट के रखेंगे कपड़े में ग्रंथ की भी गांठ न जिल्द बात जिल्द नहीं बांधेंगे हमारे पहले के लोग कहते थे कि ग्रंथ में भी है ना सिलाई नहीं चाहिए खुले करने चाहिए हाँ, उनको गांठ पसंद ही नहीं थी हाँ बोले कि नहीं बेस्टन भी नहीं चाहिए बोले पोथी नहीं चाहिए तो ये ये सब निर्ग्रंथ है तो कमर में डोरा नहीं चाहिए ठेका नहीं रहा तो हमारे ब्राह्मणों ने कहा कि जनेऊ की गांठ भी नहीं चाहिए चोटी की गांठ भी नहीं चाहिए हमको गांठ से परहेज है <laughs> हमको ग्रंथि हमको ग्रंथि मात्र से परहेज है हाँ। ब्रह्मचारियों ने कहा कि हम किसी की स्त्री के साथ गांठ किसी स्त्री के साथ गांठ नहीं बांधेंगे वो है ना हमको पति पत्नी की ग्रंथि भी पसंद नहीं है ये ग्रंथि है ये सब ग्रंथ है किसी ने कहा कि अरे भाई सृष्टि किसी ने कहा कि अरे भाई सृष्टि में पैदा हुए हो तो तुम लोग दो हो पति पत्नी तो कम से कम दो बच्चे तो पैदा करो एक लड़की एक लड़का तो तुम्हारी परंपरा चलती रहे है ना वो लेकिन ये बच्चा पैदा करने वाली जो गांठ है ये हमको नहीं चाहिए प्रजा ग्रंथी और ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं इसको बोले अरे दुश्मनों को तो मार लो बोले हमको तो रुद्र ग्रंथि नहीं चाहिए अरे भाई सबके पालन पोषण खाने खिलाने की व्यवस्था कर लो का हमको विष्णु ग्रंथि नहीं चाहिए ये विष्णु ग्रंथि है वो हाँ। हाँ। अमुक अमुक के पालन पोषण की हमारे ऊपर जिम्मेवारी है ये विष्णु ग्रंथि है का भी हमारे बाल बच्चों के जो दुश्मन है उनका संहार कर ले तो ये रुद्र ग्रंथि है का अपनी वंश परंपरा बढ़ा ले ये ब्रह्म ग्रंथि है धन कमा ले ये लोभ ग्रंथि है है ना और अपने परिवार को संपन्न कर दे ये मोह ग्रंथि है हाँ, मोह ग्रंथि है कामों का मुक्त भोग कर ले ये काम ग्रंथि है तो ये क्या है ये सब अविद्या ग्रंथि के छोटे छोटे हो हाँ। ये कौटिल सब में कुटिलता है धन कमाने में कुटिलता है बच्चा पैदा करने में कुटिलता है दुश्मन को मारने में कुटिलता है है ना पालन पोषण करने में भी कुटिलता है कौटिल बिना टेढ़ा हुए आदमी हाँ, एक जेब का पैसा दूसरे जेब में एक घर की चीज दूसरी चीज में है ना इसी को एक ग्रंथ ही है ग्रंथ सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है तो बोले अविद्या ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी है ग्रंथि है तो नहीं परंतु भ्रम से ग्रंथि मान करके और फंसे हुए हैं इसको अविद्या ग्रंथि बोलते हैं तो आओ भाई ये निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ बोलता है ना पोती कन्ना फेंक के बिचरो हुए निर्धार हृदय ग्रंथि कामा हृदय हृदय ग्रंथि हृदय ग्रंथि क्या है कि ये मानना कि ये दिल मेरा है ये दिल में है और इस दिल के सिवाय हमारे सुख का और कोई साधन नहीं है कामा हृदय ज्ञान हाँ। ये एक अंतकरण में अपने को बांध देना कि इसका सुख मेरा सुख इसका दुख मेरा दुख है ना ये मेरा और ये मैं और इसका खुश होना मेरी खुशी और इसका रोना मेरा रोना है ना तो ये वैसे ही है वो जैसे एक चिड़िया पेड़ पर बैठ करके कभी रोती है एक चिड़िया के बारे में है ना मशहूर कि वो की कहा पी कहा पी कहा बोलते हैं हाँ। हमारे बाबा पहले चिड़ियों की बोली हमको बताते थे कौन चिड़िया क्या बोलती है तो एक पंडुक नाम की चिड़िया होती है पंडुक तो उसको बताते थे क्या बोलती है क्या अयोध्या छुटली अयोध्या छुटली ऐसे बोलते थे अयोध्या छुटली हाँ। पपीहा क्या बोलता है पी कहा पी कहा पी कहा योगी है बेचारा है ना कोयल क्या बोलती है कहा गया प्यारा ऐसे बोलती है ना कू तो ये जो है जैसे चिड़िया बोलती है ना कोई चीची बोलती है कोई चीची बोलती है कोई काव काव बोलती है जैसे चिड़िया का जैसा अस्तित्व है और उसके अंतकरण में रहकर मैं उसको जैसे प्रकाशित कर रहा हूँ वो चिड़िया मुझ में जितनी अध्यस्त है उसका जैसा मैं अधिष्ठान हूँ है ना जैसे चिड़िया न मैं हूँ न मेरी है ऐसे ये जो अंतकरण है ना जिस पर मैं करके हम बैठे हुए हैं वैसे ये शरीर में रहने वाला ये अंतकरण नाम का चिड़िया भी न मैं हूँ न मेरा है और मुझ देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अनंत अद्वय ब्रह्म तत्व की दृष्टि से तो ये बिल्कुल मिथ्या ही भाग रहा है है ही नहीं मैं मैं तो ये ग्रंथि क्या हुई है ना अन्य को सच्चा मानना ग्रंथि है अन्य को मेरा मानना ग्रंथि है है ना अन्य को मैं मानना ग्रंथि है तो इसी से बोले कि जदा सर्वे प्रभिद्यंते हृदय यहाँ कुटिलता छोड़ो वाला सहज भाव से रहो सहज भाव से रहो भूख लगे तो खा लो पानी पी लो तो प्यास लगे तो पी लो नींद आवे तो सो जाओ मूतना आवे तो मूत लो चलने का मन हुआ तो चल दिया सोने का मन हुआ तो सो दिया जब जब कर्म करो मिल तब तद अकेलम शंभो भवा आराधनम क्या देखो भक्त कैसा बोलता है, है? आत्मा स्वाम मैं और तुम दोनों एक हैं गिरिजा मति बुद्धि पार्वती है सहचरा प्राणा ये प्राण सहचर है शरीरम गृहम शरीर घर है पूजा ते विषयोपभोग रचना मुंह में जो अन्न डालता हूँ पानी डालता हूँ ये तुम्हारी पूजा है पूजा ते विषयो परोभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति ही सोता हूँ वही समाधि है समाधि और निद्रा में केवल साधन की दृष्टि से भेद है सिद्ध की दृष्टि से कोई भेद नहीं है चूंकि समाधि अभ्यास जन्य है? पुरुषार्थ से प्राप्त हुई है इसलिए उसमें प्रिय बुद्धि ज्यादा होती है लेकिन विषय अभान रूप जो अवस्था है वो तो वहाँ भी समान ही है हाँ, निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि पाँव से चलते हैं ये प्रदक्षिणा है जहाँ जहाँ चलो सोई परिक्रमा हाँ, स्त्रोत्राणी सर्पा गिरो जो बोलता हूँ वही स्तुति है मैंने अलग से स्तुति करने की जरूरत नहीं है अलग से प्रदक्षिणा करने की जरूरत नहीं है जो जो हो रहा है तो सब जब जब तक कर्म करो मी तब संभो तवाराधनम इसी जिंदगी में इसी जिंदगी में सारी गांठ टूट गई अरे अब अब क्या करने की जरूरत है यज्ञानाम चक्रतम सहस्रमयुतम देवाश्च संपूजिता त्रैलोक्या समुद्रता स्वपितर त्रैलोक्य पूज्योप्यसौ यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थर्य मन प्राप्त एक क्षण ब्रह्म चिंतन में मन लगा है ना एक क्षण ये ख्याल हुआ कि मुझे अद्वितीय ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है, है? सारे तीर्थ का व्रत का धर्म का यज्ञ का है ना सबका फल यही है कि ये ज्ञान हो जाए फिर बोलते हैं संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वे कल्पद्रुमा गांगम वारी समस्त वारी निभा पूर्णिया समस्ता स्त्रिया संपूर्ण जगत नंदन वन है और जितने वृक्ष हैं सब कल्प वृक्ष हैं और सोमवार को मुहूर्त होता है मंगलवार को नहीं होता है तत्व ज्ञान होने पर सब मुहूर्त हो जाता है सब मुहूर्त हो जाता है सोमवार मंगलवार सब मुहूर्त ही मुहूर्त है है ना और बोले मगध देश मरने के लिए अच्छा नहीं है है ना काशी में मरना चाहिए बोले सब काशी हो जाती है संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वे कल्पद्रमा गांगम वारी समस्त बारी निभा सारे जल गंगा जल है पूर्णिया समस्ता क्रिया जो करते हैं अहंकार रहित होकर ममता रहित होकर सारी क्रिया सारी क्रिया पुण्य है पुण्या समस्ता क्रिया वाच संस्कृत प्राकृता वाच प्राकृत संस्कृता श्रुति सिरो वाराणसी में दिनी हिंदी बोलो अंग्रेजी बोलो संस्कृत बोलो है ना सब वेदांत है उपनिषद है जो मुंह से निकलता है उसका नाम वेदांत है हाँ। सारी पृथ्वी मुक्ति भूमि है वाराणसी है सर्वावस्थिति वस्तु विषया वो हाय हाय करके चाहे धरती पर लौटे है ना चाहे भूखा प्यासा नंगा हो के मांगता फिरे चाहे रोगी होए बेहोश होए पागल होए मरे सोए है चाहे जो कुछ करे उसकी सारी की सारी स्थिति ही ब्रह्म है ये कब होता है कब दृष्टि पर ब्रह्मणे जब पर ब्रह्म परमात्मा का पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है दर्शन हित्वा स्वयं केवल रूपतः जस स तो ब्रह्मन ब्रह्म न ब्रह्मविद स्वयं जिसने ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा छोड़ दिया दर्शना दर्शने हित्वा अब ब्रह्माकार वृत्ति बनावेंगे तब अविद्या की निवृत्ति होगी तब ब्रह्म साक्षात्कार होगा तब हम ब्रह्म होंगे अरे अरे अपने को ऐसा ब्रह्म जाना है कि ब्रह्माकार वृत्ति और संसाराकार वृत्ति का भेद ही मिट गया न अज्ञान है न ज्ञान है ज्ञान अज्ञाने सपद गलित पुण्य पापे विशीर्ण ज्ञान और अज्ञान गलित हो गए पुण्य पाप विशीर्ण हो गए हाँ। बिखार गए न पाप है न पुण्य है न ज्ञान है न ज्ञान है स्वयं केवल रूप से बैठा बोले वो ज्ञानी है ना ना ज्ञानी कह के उसका अपमान मत करो वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है वो स्वयं ब्रह्म है जस तिष्ठति तिष्ठति ब्राह्मण ब्रह्म न ब्रह्मवेद हाँ, वो ब्रह्म है वो ब्रह्मविद नहीं है हाँ, जो ब्रह्म को जाने सो ब्रह्मविद हो कब बोले बाबा जो ब्रह्म को जानने वाला था ना वो तो अविद्या को नाश करके ज्ञान की वृत्ति नष्ट हो गई तो न अज्ञानी रहा न ज्ञानी रहा वो तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों का अधिष्ठान दोनों का प्रकाशक जो अद्वय ब्रह्म तत्व है वही रहा और ज्ञानी अज्ञानी कहाँ से रहा यदा सर्वे प्रभिद्यंते हृदय सेह ग्रंथया ये असल में ये दिल की ही कमजोरी है दिल की ही कमजोरी है जो हम अपने को है ना अब्रह्म अपने को हम अपन, अपने को हम अब्रह्म समझते हैं अब्रह्म माने ब्रह्मातिरिक्त अरे हम तो जीव हैं हम तो मनुष्य हैं ब्राह्मण हैं सन्यासी हैं है ना देवता हैं दानव हैं पापी हैं पुण्यात्मा हैं भोगता है करता है ऐसा जो हम अपने बारे में समझते हैं है? ये दिल की कमजोरी है और ये दिल का असल में बाकापना टेढ़ापना इसी का नाम है ग्रंथि इसी का नाम है कौटिल जब इसका प्रभेदन हो जाता है प्रभेदन भी बड़ा विलक्षण ये कहते हैं कि एक ऐसी गांठ होती है जो खोले नहीं खुलती है आप लोगों ने सुना होगा खोले नहीं खुलती है तो कैसे खुलती है क्या बोले रोशनी में देखो तो खुल जाए खुल जाए एक ऐसी गांठ होती है जो खोले नहीं खुलती है न पड़ोसी के के खोले खुलेगी न अपने खोले खुलेगी न अपने खोले खुलेगी न पड़ोसी के खोले यद्यपि मृषा जड़ चेतन ग्रंथ पड़ी गई यद्यपि मृषा अगर गांठ सच्ची होती तो हम खोलते न खुलती हम बड़ा दावा करते थे इस बात का कि कैसी भी गांठ हो ले आओ हमारे सामने हम खोल देंगे बचपन में है ना ऐसे चांदनी में वो सुई का छेद होता है ना उसमें सूत डालते थे देखें कौन सबसे पहले कौन सबसे पहले डालता है की चांदनी में ऐसे खेल खेलते थे लाओ गांठ देखो हम खोलते हैं पर एक ऐसी गांठ जो अंधेरे में खोलो तो और उलझ जाए और रोशनी में देखो तो गांठ ही नहीं वो तो झूठ मूठ गांठ का भ्रम था जादू की गांठ लगाते हैं ना जादू की गांठ हाँ, एक बार हम लोग कहीं आ रहे सुखकाल हाँ, में सुखकाल में या ऋषिकेश में एक ठाकुर साहब मिले उनका लाओ रस्सी अब रस्सी में महाराज उन्होंने वो कपड़े से ढक के पच्चीस तीस गांठे लगाई और खोल के दिखा दिया कि देखो गांठ पच्चीस तीस गांठ अरे मेरे बाप वो तो एक कपड़े से ढक के अपना हाथ अपने हाथ से वो पकड़े हुए थे जो खींचा सो गांठ नजारा हाँ, बिल्कुल गांठ नजारा तो ये अग्रंथी में ही जहाँ ग्रंथि का भ्रम हो जाता है वो ग्रंथि सुलझाने से माने कर्म से नहीं सुलझते वो पड़ोसी की मदद से नहीं समझते सुलझते वो अभ्यास करने से नहीं सुलझती वो हाथ जोड़ने से कहे ईश्वर इसको खोल दो नहीं खुलती क्योंकि गांठ हो तो होम करने से नहीं खुलती वो मंत्र जप करने से नहीं खुलती क्योंकि गांठ होवे तो मंत्र जब से खुले होम करने से खुले प्रार्थना करने से खुले अभ्यास करने से खुले खुले कर्म करने से खुले है ना और सिद्धि प्राप्त करके योग शक्ति का प्रयोग किया कर तब खुली कर हो तब ना वो तो है ही नहीं है ना तो रोष ज्ञान के प्रकाश में देखा तो वो तो ग्रंथि वो तो ग्रंथि थी ही नहीं है तो अथ मृत्यो मृतो भवती एकावध्यनुशासनम क्या जो मर के है वो अमृत हो जाता है जो मरने वाला है कभी अमृत नहीं होता असल में मरने वाला नहीं था ना भ्रम से अपने को मरने वाला मानने लगा तो ये ग्रंथि ग्रंथि रेवा ग्रंथि ग्रंथि के समान ग्रंथि है और ये केवल प्रातिभाषिक माने केवल भाषने वाला मर्तत्व है ये तो है ही नहीं मारते तो तो अथ मृत्यो मृदो भवती तब तो कहिए जो अपने में मर्तव का भ्रम आया है वो छूट जाता है अमृत तो तुम हो ही अमृत हो माने सत हो अमृत हो माने चेत हो जड़ नहीं हो अमृत हो माने आनंद हो दुख दुखी ये सब झगड़ा तुम्हारे अंदर नहीं है अमृत हो माने अद्वितीय अद्वितीय हो ब्रह्म हो अनुशासनम आत्मा को ब्रह्म रूप से बताना मर्त को अमृत करना ग्रंथि का वेदन करना तो ये गांठ खोले नहीं खुलती है आ, हाँ, ये तो आत्मज्ञान की रोशनी में देखो अनुशासनम हाँ, यही शास्त्र का अनुशासन है एतावन मात्रम एतावदेव इसके आगे और कोई अनुशासन नहीं है यही उपदेश है संपूर्ण वेदांतों का शंकराचार्य भगवान कहते हैं अनुशासनम अनुशिष्टि ही उपदेश सर्व वेदांता नाम इति वाक्य से है ना वेदांतों का बस इतना ही उपदेश है इतने उपदेश है कि ये मौत और जड़ता और दुख से घिरा हुआ जो मैं ये मैं असल में मौत जड़ और दुख से कोई संबंध रखने वाला नहीं है देश काल वस्तु कोई परिच्छेद इसको स्पर्श नहीं करता है ये अखंड अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा है ओम शांति